मुनियगस्त कर शिष्य क्षण रति भगवान मन क्रमवचन रामपद सेवक न भ रोशन देवक प्रघु आगमनो श्रवण सुनिपात मनोरथ आतुर्ध एविधि दीन बन्धुरघुराया मोसे सठ पर करिहै दाया मुनि अगस्त के एक सुतिक्षण नाम का सुजान यानी शिष्य थे उनकी भगवान में प्रीति थी वे मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले हे विधाता क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे सहित अनुज मोहे राम गुसाए मिली है निज से वक के नाई मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहे भगति बिरति न ज्ञान मन माहि नहि सत्सङ्गा नहि दृढचरण करू, ना करो के प्रिय जाय के गति नयान की क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है मैंने न तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है हाँ दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है वह उन्हें प्रिय होता है कोई है सुफल आज ममलोचन देखी बदन पंकज मोचन निर्भर प्रेम मगन मुन ज्ञानी कही न जाए सो दशा भवानी दिशियर विदिश पन्थ नहीं सोझा को मैं चले कहा सोझा कबहू कफिरि पा पुन जाए कबहु कनेत्य करें गुण गाए भगवान के इस वान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे आहा भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे शिव जी कहते हैं हे भवानी ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती उन्हें दिशा विदिशा दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते इसका भी ज्ञान नहीं है वे कभी पीछे घूम कर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गागा कर नाचने लगते हैं अबिरल प्रेम भगति मुनि पाए प्रभु देख तरु ओटरुकाय अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा प्रगटे हृदय हरण भवभीरा मुनि मगमाझ अचल होई बैसा शरीर पन सफल जैसा तब रघुनाथ निकट चलियाए देख दशा निज जन मन भाए मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया तब श्री राम रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए मुनि राम बहु भाति जगावा जागन ध्यान जनित सुख पावा भूप रूप तब राम दुरावा हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा मुनिय कुलाए उठा तब कैसे विकल ही न मनी फनी बर जैसे आगे देखे राम तन श्यामा सीतायनुज सहित सुख धाम श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया पर मुनि नहीं जागे क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा पर चरण लागे प्रेम मगन मुनि बागे मुझे गहे लिए उठाए परम प्रीति ही मिलत यस सोह कृपाला कनक तरुहि जनो भेट तमाला राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा मानहु चित्र माझ लेखिकाढ़ा प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए ही राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों तब मुनि हृदय धीर धरे दही पद बारहि बार निज आश्रम आन करे पूजा विविध प्रकार तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की